जाम प्रमाद सत्य मृतिर्मतासी स्वात्र नचिकेत उनको तत्व ये बात बताने के लिए न नरेण अवरेण प्रोक्त यहाँ निष्ठा आचार्य प्रोक्तमेव ज्ञानम सफल कहीं दूसरे देश में जाकर टिका हुआ नहीं है दूसरे काल में टिका हुआ नहीं है दूसरा बच्चे दूसरी बच्चे के रूप में छिपा हुआ नहीं है वो तो क्यों का क्यों है पाते अगर वैराग्य की कमी होती तो नचिकेता को ज्ञान न होता ये बात बता खूब प्रलोभन दिया बाद में बताया कि बुद्धि में संस्कार चाहिए शक्ति नहीं चाहिए विपर्य में दुराग्रह नहीं चाहिए कुतर्क नहीं चाहिए मान होने चाहिए और प्रतिबंध निवृत्त हो गए तत्काल ज्ञान हो गया अब एक और कारण बताते हैं कि तत्व ज्ञान क्यों नहीं होता तस्मात न विधि क्यों नहीं लोगों की समझ में ये बात आती है श्रवण तो भी तस्मात न विद्युत उत्तर में कहते हैं कि जिसका वक्ता जो है वो अवर नर नहीं चाहिए अपर क्लास का नहीं चाहिए अवर अपर अवर अपर अपर संस्कृत भाषा में सब करते हैं वक्ता शत्रु मतलब की कहते थे क्योंकि नर का स्वभाव है कि उसके पास कोई पूंजी हो तो वो जल्दी दूसरे को देता है ये नर शब्द के अर्थ में ये बात थोड़ी होती है वो नर आदमी घटना बता दी जल्दी वो अपनी जिंदगी किसी को देना पसंद नहीं करता ज्ञान भी तो एक जिंदगी है वो गहरे गहरे लखू गहरे को तो लेने की चीज नहीं हो तो देखो ज्ञान होने पर एक हो जाता अगर कहे कि ऐसे आदमी को ज्ञान देने की जरूरत कहाँ है वो तो ज्ञान की बदनामी का बजा बोला अगर सुखी रहो तो भी ठीक दुखी रहो तो ना ठीक है तो उसको ज्ञान का उपदेश नहीं करना वो तो ये मालूम पड़े कि ज्ञान होने पर ये गहराज गरिष्ठ रहेगा दूसरी बात देखो किसी को मालूम पड़े कि पाप पुण्य बराबर है अब वो क्या करेगा बोले हम तो पाप ही करेंगे तो संस्कृत आत्मा होकर के पूर्ण का स्वभाव अपने जीवन में सदाचार का स्वभाव डाल लेता है करके ज्ञान संप्रदाय विभाग ज्ञान संप्रदाय को बदनाम नहीं करेगा तो उसको उसको ज्ञान देता जैसे मंदिर में पुजारी किसको रखा जाए जिसके बारे में विश्वास हो ये पवित्रता से देवता की पूजा करेगा क्योंकि देवता तो रोकेगा नहीं कि हमारे मंदिर में तुम पवित्र हो क्या पवित्र हो देवता तो मना करेगा नहीं तो पुजारी नियुक्त करने वाले को ही ये विश्वास प्राप्त होना चाहिए कि ये पवित्रता से पूजा करेगा तो दूसरी बात जो मस्ता ब्राह्मणस्य न कर्मा वर्धते कल्याण न कर्म से उन्नति हो न कर्म से अवनति हो ऐसी दशा में किसी को पहुँचा देना और फिर उसके बुरे कर्म हो तो ये विश्वास हो जाना चाहिए कि ये बुरे कर्म नहीं करेगा ऐसा सदाचार का अभ्यास जिसके जीवन में है सद्भाव का अभ्यास जिसके जीवन में है कौन सी समाधि का अभ्यास जिसके जीवन में है उसको इसका किया जाता है इसका उपदेश कौन करे तो उपदेश जो है वो सफल होवे बंध न होवे बाध न होवे उसके लिए अवर शब्द का प्रयोग किया न नरेणा श्रेष्ठ मनुष्य कनिष्ठ मनुष्य स्वयं पाप पूर्ण राग द्वेष सुख दुख के चक्कर में फंसा हुआ मनुष्य यदि इसका उपदेश करेगा तो उपदेश समर्थन नहीं होगा उपदेश में सामर्थ्य आने के लिए उपदेषा का वर नर होना आवश्यक है वर कौन होता है वर उसको कहते हैं जो वर्णीय हो गई जैसे तो कन्या जिसको वरण करती है वो वर हो जाता तो वर कौन है बोले नहीं जो वर्ग एक हो गए सो तो वर उस वरेण्य परमात्मा को जान करके जो उससे एक हो गया है जिसने उससे अपने तादात्म्य का अनुभव कर लिया है अविद्यावृत्त होने से जो उससे एक हो गया है जो सबके वर परमात्मा से जो एक सो वर माने वर मनुष्य यदि उपदेश करे तब विद्या अज्ञान की निवृत्ति में समर्थ होती है और अरे गहरे महाराज दिन भर जिज्ञासु आया तो बोले कि तुम ब्रह्म हम ब्रह्म और जब उपदेश का समय बीत गया तो भाई आजकल हमको ये बड़ा दुख है आजकल तो हम बड़े दुखी हैं तो हमारा एक दुश्मन है उसको कैसे नीचा दिखाएं में भी ये काम कैसे बने रिश्वत देते भी ये काम कैसे बने तो उपदेश काल में तो ब्रह्म और उपदेश कालानंतर काल में बिल्कुल जी तो दूसरा जो जिज्ञासु होगा उनके सामने और यही न कहेगा कि जब हमारे उपदेश करने वाले यही पाप पूर्ण के चक्कर में है राग द्वेष के चक्कर में है सुख दुख के चक्कर में है शुभ अशुभ के चक्कर में है हमारा स्वयं वही उनसे बोले महाराज आपका तो तत्वज्ञानी तो नहीं होता है एक चेला लोग पूर्व जन्म उत्तर जन्म वर्तमान जन्म मानते हैं वो शिष्य लोग गुरु के जीवन में प्रारब्ध की कल्पना करते हैं महंत जी से जाके पूछा कि आपके पास इतना धन इतनी संपत्ति कैसे बोले भाई क्या करें पूर्व जन्म का फल है प्रारब्ध का वो भोग नहीं पड़ता है तो महाराज आपका पूर्व जन्म था अरे तुम तो ब्रह्म हो बाबा न पूर्व जन्म तुम्हारा न उत्तर जन्म ये प्रारब्ध लेके कहा बैठ गए हाँ शिष्य से किसी ने पूछा ज्ञानी जी के पास समृद्धि कहाँ गए बोले ये सब प्रारब्ध शिष्य की दृष्टि से वो प्रारब्ध हो सकता है लेकिन जहाँ गुरु ने स्वयं ही अपने ऊपर प्रारब्ध आरोपित कर रखा है तब पूर्व जन्म भी आरोपित कर रखा है कर्तृत्व को भी आरोपित कर रखा है जीवन को भी आरोपित कर रखा है क्यों न होता तो कर्म कहाँ से होते और जब कर्म है तो कर्तापन भोक्तापन के बिना कहाँ होगा तो वर मनुष्य का अभिप्राय है हाँ। तत्व ज्ञानी के प्रारब्ध नहीं होता उसके पूर्व जन्म उत्तर जन्म वर्तमान जन्म नहीं होता वो तो ज्ञातु के प्रारंभ से उसका स्वरूप होता है हाँ। और योगी दो लोग ऐसी कल्पना करते हैं हाँ, दृष्टि में तो पर मनुष्य का अभिप्राय क्या है ये ब्रह्म में जो ग्रह है ना उसी को बर कर दिया हूँ बर्फ जो ब्रह्म से एकत्व तो जो प्राप्त पुरुष है व्यवहार है भव बारिधि मर वृथा समाना अनु अनु मर मर तो भव बारिधि मृग वृथा समाना अनुचिन यह ताकत नहीं आना जो कहता है कि ये प्रदीयमान प्रपंच मृग तृष्णा के जल के समान है और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म तत्व के सिवाय और कुछ है ही नहीं तो जब वर मनुष्य उपदेश का चाहिए वर मनुष्य और यदि अवर मनुष्य माने दूसरे नंबर का आदमी है ना तो जो हम में है जो हम में है, है ना जो भारत में है

रहता दोष जिसका ये नरेण अवर्ण का शंकराचार्य भगवान ने अर्थ किया है अवर्ण हीने प्राकृत बुद्धिना इसने तक जिसकी बुद्धि सर्वसाधारण तरीके बुद्धि ये प्राकृत बुद्धि क्या होती है जो तो शानदार भाष्य का टीकाकार है ना I was looking and doing it looking at the Jacta Bay. मैंने भोपाल में उन्होंने प्राकृत बुद्धना की व्याख्या की मधोपनिषद पर प्रकार की दुनिया में अवर मनुष्य को दो नंबर का अतिथि को अवर है दो नंबर का एक एक नंबर का मनुष्य और एक दो नंबर का मनुष्य एक नंबर का मनुष्य तो वो है वो अपने को अद्वितीय अविनाशी परिपूर्णता प्रत्यक्ष चैतन्य आवेदन ब्रह्म तत्व एक जाने और दो नंबर का दौर बोलो कि प्राकृत बुद्धि प्राकृत बुद्धि क्या तो प्रकृति के जो विकार हैं हाँ। प्रकृति के जो विकार हैं क्या मन बुद्धि है ना जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्वीकृत करण से जो बनता है सो पंचीकरण से जो बनता है दो तीन अवस्था में जो रहता है दो है ना जो बदलता बनता बिगड़ता है सो ये सब प्रकृति का कार्य है उसमें जिसकी बुद्धि रखी हुई है और यह मैं हूँ और यह मेरा है उसका नाम अवर प्राकृत बुद्धि उपदेश करे कि तुम भ्रम हो तो सुनने नहीं आएगा बड़ी कठिनाई पड़ेगी यहाँ क्यों तो जसमा परमात्मा को लोगों ने बहुत प्रकार से चिंतन किया है तेरा है मन अब बुद्धि तत्व में प्रवेश नहीं करती है तो अस्थि कर्ता अस्थि अकर्ता अस्थि शुद्ध अस्थि अशुद्ध अस्थि जिनके वाला ऐतरे उपनिषद के प्रथमाध्याय के अंत में आत्मा के संबंध में जितने विकल्प हैं इनकी चर्चा स्वयं भगवान भाष्यकार ने की है कोई कहते हैं कि अस्थि आत्मा है आत्मा ठीक है अस्थि कोई कहते हैं नास्ती आत्मा कोई कहते हैं अस्तित्व तो नास्तित्व तो है भी और नहीं भी है यही कहते हैं ज्ञान अच्छी श्याम नास्ती नहीं है कोई कहते हैं बिल्कुल नहीं है नास्ती एक काम नहीं है चार चारनाथ कहते हैं देह ही आत्मा है कोई कहते हैं इंद्रिय ही आत्मा है कोई कहते हैं प्राण ही आत्मा है कोई कहते हैं मन ही आत्मा है कोई कहते हैं विज्ञान ही आत्मा है कोई कहते हैं आनंद ही आत्मा है कोई कहते हैं आत्मा जनता होने से पाप होने से ग्रस्त है कोई कहते हैं आत्मा अकर्ता होने से पाप होने से ग्रस्त नहीं है कोई कहते हैं परिच्छिन्न होने से आवागमन वाला संसारी है कोई कहते हैं अपरिच्छिन्न होने से आवागमन वाला नहीं है उसमें हाँ, जन्म मृत्यु उनकी यशोधा परिच्छिन्न है तो बहुधा चिंत माना भिन्न भिन्न महात्माओं ने भिन्न भिन्न प्रकार से इसका चिंतन किया है और भिन्न भिन्न कक्षा में जो भ्रांतियाँ होती हैं उनके निवारण का उनके निवारण का प्रयत्न किया है चार बात का भी दर्शन शास्त्र में उपयोग है प्राय लोग हैं मेरे किसी ने कहा महाराज हम तो अपने बेटे के लिए मर जाएंगे अपनी पत्नी के लिए मर जाएंगे धन के लिए मर जाएंगे अपने देश में यदि किसी की अत्यंत आसक्ति है जिसको छठा कोष बोलते हैं संसद में छठे कोष में यदि किसी की अत्यंत आसक्ति है तो उसको ये समझाना कि तुम देह हो है ना पैसे के लिए मत मरो पशु के लिए है ना पैसे के लिए मत मरो घर के लिए मत मरो स्त्री पुत्र के लिए मत मरो जरा खा पी के अपने को स्वस्थ रखो है ना पैसे के लिए इतना काम करते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं तो देखो चार बार की जरूरत है ना कि पहले दूध दही खा के सब मतलब काम करो भाई अपने को बीमार करके काम मत करो सरकार की जरूरत है तो इसी तरह सब दर्शनों की आवश्यकता होती है और भिन्न भिन्न स्तर पर भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियों को वो दूर करने में काम आ रहे हैं तो महात्माओं ने बहुत प्रकार से इसका चिंतन किया है और ने सबका बीज लिखता है ना यही चारबाग सिद्धांत का बीज जीवनों में न हो और एक प्रेम की संज्ञा चारबाग दर्शन का बीज भी है शून्यम भी है लोकातीत गमन का भी वर्णन है अलोकाकाश के नोट पर जाने का भी वर्णन है बढ़ने घटने का भी वर्णन है ऐसा नहीं कुछ ये सब भाव हो है ना बेटे आदि में जाने आने का वर्णन है स्वर्ग नरक में जाने आने का वर्णन है आत्मा होने न होने का वर्णन है तो इसमें ये न दृष्ट सर्वदृक तो बहुत प्रकार से इसका चिंतन किया हुआ है इसलिए जब तक उपदेश करने वाला नहीं मिले अनुभवी यजुर्वेद संहिता में एक मंत्र आता है तद पश्यत हाँ। तद भवत सदा ठीक ओम नमो उसको जाना सदा उसको देख सदभदा वही हो गया बोले जाना और हो गया हम घड़ा जानते हैं तो घरा नहीं हो नहीं हो जाते हैं हम हाथी जानते हैं तो हाथी नहीं हो जाते हैं और ब्रह्म को जानते हैं तो ब्रह्म हो जाते हैं दादा पश्चात दादा बाबा उसको जाना और वही हो गया ऐसा क्यों हुआ बोले कदापि पहले तो वही जो था हाँ। पहले से तो वही पहले से तो वही था ही था इसलिए उसको देखा वही हो गया क्योंकि वही था ये यजुर्वेद सभ्यता का एक मंत्र है बोला तो अनुभवी गुरु चाहिए आचार्य संयोगिता किया साधिष्ठम कहती है कि आचार्य से जानी हुई जो विद्या है वो जिज्ञासु को ठीक ठीक साधिष्ठम ठीक ठीक प्राप्त होती है और आचार्य से प्राप्त न हो अपने मन से कुछ उत्पादन सोचने लगे स्टडी कर रहे हैं कहा निकाले में बैठ बाबा जिस पद का जो अर्थ तुमको मालूम है उससे अधिक किताब पढ़ने से कैसे मालूम जाएगा जिस पद का जो संकेत है मैंने बताया होगा एक अक्षर को ऐसा बताओ जो तुम्हें बिना किसी के बताए मालूम पड़ा हो आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, कोई अक्षर समाज समाधान में से कोई भी तुमको बिना बताए किसी हो नमो आपको पहचान बिना किसी के बताए आप एक अक्षर भी पहचानते हैं क्या अच्छा ये इसका नाम नाक है इसका नाम आँख है इसका नाम कान है बचपन में अपने आप ही आपने सीख लिया होगा ना तो ये पदार्थ वो देख करके पद का निश्चय और पद के द्वारा पदार्थ का निश्चय ये जो है ना पद और पदार्थ का संबंध है ना ये औत्पत्तिक है ना दोनों का संबंध औत्पत्तिक है इसके ज्ञान कराना पड़ता है शब्द और अर्थ का संबंध तो आप ये समझते हैं कि हम पुस्तकालय में बैठ के है ना और चोरी चोरी से नारायण अपरिच्छिन्न ब्रह्म को जान नहीं जवान पुरुषों के श्रुति की घोषणा है जवान पुरुष ही इसको जान सकता है आचार जवान पुरुषों के नावेदिन मनुते तम बृहंताम जो अवेदविद है वेद के परम तात्पर्य को जो नहीं जान वो परब्रह्म परमात्मा को नहीं जान सकता तब वो उपनिषदाम पुरुषम पृक्षा में हम हाँ, उपनिषद प्रतिपाद उपनिषद प्रतिपाद जो पुरुष है तो उसके बारे में प्रश्न कर रहे हैं भौतिक ज्ञान जो है ज्ञान तो ज्ञान है का अर्थ है पहले इंद्रियों से हम बाहर के पदार्थों का अनुभव कर लेते हैं और उसके बाद उनके बारे में निश्चय करते हैं बड़े यंत्र द्वारा करें दूरबीन से करें दूरबीन से करें रसायन बनाए कुछ करें बाहर के पदार्थों का ज्ञान तो पहले हम इंद्रियों से प्राप्त कर लेते हैं फिर निश्चय करते हैं परंतु आत्मा के संबंध में जो ज्ञान है अज्ञानक स्वरूप जो आत्मा है वो इंद्रियों के द्वारा कहा जाना जाएगा ज्ञान जन्म ज्ञान इंद्रिय का ज्ञान आत्मा का ज्ञान नहीं होता मन में भाव ये हो कि हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं चंदन लगावे साले ग्राम पर और ख्याल ये हो कि हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं फूल रखे साले ग्राम पर और ख्याल ये हो कि हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं तो तुम्हारा ख्याल